हैं आसमानों और जमीन में जो कुछ भी है ये सब अल्लाह ताला का है जो बातें तुम्हारे दिल में हैं तुम उनको जाहिर करो या तुम उनको छुपाओ अल्लाह ताला तुमसे उनका हिसाब लेगा फिर जिसको चाहेगा अल्लाह ताला माफ कर देगा और जिसको चाहेगा अल्लाह ताला सजा देगा और अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखता है ये रसूल यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस चीज के ऊपर ईमान लाए हैं जो उनकी तरफ उनके रब की तरफ से उतारी गई है और उनके साथ तमाम मुसलमान भी ये सब अल्लाह पर अल्लाह के फरिश्तों पर अल्लाह की किताबों पर और अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाए हैं और ये कहते हैं कि हम उसके रसूलों के दरमियान कोई तफरीक जुदाई नहीं करते हैं कि किसी रसूल पर ईमान लाए किसी पर न लावे और वो ये कहते हैं कि हमने अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुन लिया और हम खुशी से उस पर अमल करेंगे ए हमारे रब हम आपसे मगफिरत मांगते हैं और हम सबको आपकी तरफ लौट करके जाना है अल्लाह ताला किसी भी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा जिम्मेदारी नहीं सौंपते उसको फायदा उसी काम का होगा जो अपने इरादे से करे और नुकसान भी उसी काम का होगा जो अपने इरादे से करे हे मुसलमानों तुम अल्लाह से ये दुआ करो ए हमारे रब अगर हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो तू हमारी पकड़ मत करना ए हमारे रब तू हम पर ऐसा बोझ मत डाल जो हमसे पहले पिछली उम्मत के लोगों पर बोझ डाला गया था ए हमारे रब तो हम पर ऐसा बोझ न डाल जिसको उठाने की हमारे अंदर ताकत न हो और हमारे गुनाहों से दरगुजर कीजिए हमको माफ कर दीजिए हम पर रहम कीजिए आप ही हमारे मदद करने वाले हैं काफिर लोगों के मुकाबले में आप हमारी मदद फरमाइए दो तरह के अमाल और काम हम लोग करते हैं एक काम वो है जिसका ताल्लुक इंसान के बदन से है जाहिर से है हाथ है पैर है कान है आंख है जुबान है इसके जरिए हम बहुत सारे काम करते हैं कान से सुनते हैं जबान से बोलते हैं हाथ से पकड़ते हैं पैर से चलते हैं आंख से देखते हैं ये सब जाहिर में होने वाले काम हैं कुछ काम ऐसे भी हैं जिसका ताल्लुक इंसान के दिल से है दिल के अंदर हम बहुत सी चीजें सोचते हैं विचार में लाते हैं ये दो तरीके के काम हैं दिल से जो काम होते हैं उनको बातिनी आमाल कहते हैं अंदर के काम और हाथ पैर आंख नाक कान से जो होते हैं उनको जाहिर बाहर के काम कहते हैं ये जितने भी काम हैं उसमें कुछ काम ऐसे हैं कि इंसान अपने इरादे से अपने इख्तियार से अपनी मर्जी से करता है जैसे अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम अपनी मर्जी से इस कुरान की मजलिस में बैठे हैं अपने इरादे से बैठे हैं अपनी खुशी से बैठे हैं और कुछ काम ऐसे होते हैं कि आदमी की मर्जी नहीं होती इरादा नहीं होता चाहत नहीं होती फिर भी वो काम होते हैं जैसे अल्लाह हम सबको सलामत रखे बाज लोगों को बीमारी हो जाती है कप कपी की हाथ कांपते ही रहते हैं उनको कहो कि भाई हाथ ठीक सीधे रखो तो नहीं रहते हाथ हिलते ही रहते हैं उनको दुजारी चढ़ती रहती है बाद लोगों को पैर में ऐसी बीमारी होती है अब उनको कहो कि भाई हाथ रोको तो भाई कैसे रोके बीमारी है हमारी मर्जी में नहीं है हमारे इख्तियार में नहीं है वो हिलता ही रहता है अल्लाह ताला ने ऊपर की शुरू की आयत में ये बात फरमाई कि तुम जो काम भी करते हो अल्लाह ताला कयामत के दिन उस पर हिसाब लेंगे जो काम तुम खुल्लम खुल्ला करो उस पर भी हिसाब होगा जो काम तुम छुप छुप के करो उस पर भी अल्लाह के यहां हिसाब होगा छोटे काम करो बड़े काम करो सब पर अल्लाह ताला कयामत के दिन हिसाब लेंगे और अल्लाह ताला जो हिसाब लेने बैठे तो कोई भी इंसान सजा से नहीं बच सकता ये बात तय है हिसाब देना किसी की ताकत की बात नहीं अल्लाह ताला को हम जो दुआ पढ़ते आसान हिसाब तो आसान हिसाब का मतलब क्या है आसान हिसाब का मतलब यह है कि अल्लाह के सामने ले गए हमको फरिश्ते अपना नंबर आएगा तो खुदा के सामने ले गए अमल के चौपड़े आए नेकी के गुनाह के बुराई के अच्छाई के बस सिर्फ अल्लाह के सामने भविष्य ले गए और अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया ए मेरे बंदे जा तेरा हिसाब नहीं लेना तू जन्नत में चला जा इसको आसान हिसाब कहते कि सिर्फ अल्लाह के दरबार में ले गए जैसे किसी आरोपी को किसी चोर को कोर्ट में ले गए बस जज ने कह दिया भाई जा तुझे छोड़ दिया इतना छोटा सा इसको आसान हिसाब कहते हैं बाकी जो अल्लाह ताला हमारी फाइलें खुलवाए आमाल नामे अल्लाह ताला खुलवा देवे तो किसी इंसान की ताकत में यह बात नहीं है कि वो अल्लाह को हिसाब दे सके पूरी जिंदगी का तो बहुत दूर की बात एक महीने का एक हफ्ते का एक दिन का हिसाब देना भी इंसान के लिए बहुत मुश्किल तो अल्लाह ने यह फरमाया तुम छोटे बड़े जो काम भी करोगे हम हिसाब लेंगे तो साहब के राम रिदवान मजमाइन अल्लाह से बहुत डरने वाले थे और कयामत तक आने वाली उम्मत के लिए सहाबा रहमत है उन्होंने जरूरी जरूरी सवाल हुजूर को पूछ लिए उम्मत को आसानी हो गई तो साहबा एकदम घबरा गए कि हर हर चीज का हिसाब देना पड़ेगा तो बहुत मुश्किल ही हो जाएगी बहुत तकलीफ हो जाएगी बहुत परेशानी हो जाएगी तो साहबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए का हुजूर हर चीज का हिसाब देना पड़ेगा तो बहुत तकलीफ की बात है कुछ आसानी हो जाए अल्लाह की तरफ से तो हजरत नबी करीम सल्लाम ने सहाबा को समझाया देखो ये अल्लाह की बात है उस अल्लाह की बात के सामने कोई वांधे मत निकालो कोई सवाल मत खड़े करो अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया कि मैं हिसाब लूंगा तो अब तुमको मान लेने का जबान से बोलो समीना वाताना अल्लाह हमने बात सुन ली मान ली एक ईमान वाले के ईमान की शान ये कि अल्लाह का जो हुक्म भी हो वो सुने मान ले उसके ऊपर कोई वांधा वचका कोई सवाल खड़ा करना ये ईमान वाले की शान नहीं है तो जैसे ही नबी करीम सल्लाम ने इनको समझाया साहबा फौरन समझ गए और सब साहबा एक साथ कहने लगे अल्लाह के रसूल हमारे अल्लाह ने जो फरमाया हमने मान लिया अल्लाह ताला को साहबा की ये बात बहुत पसंद आई इतनी पसंद आई इतनी पसंद आई कि फौरन अल्लाह ताला ने कानून बदल डाला और हुक्म दिया कि जो तुम अपने इरादे से अपनी मर्जी से अपनी खुशी से जानबूझ के जो काम करोगे उसी के ऊपर अल्लाह ताला हिसाब लेंगे बाकी जो भूल चुक हो जाए वो भी मां जिससे तुम्हारा इरादा नहीं हो तुम्हारा इख्तियार तुम्हारी मर्जी नहीं हो वो भी अल्लाह ताला माफ कर देंगे अब एक आदमी है बेचारा उसके दिल के अंदर आज ये बीमारी जनरल एक आम है इसीलिए ये बात ध्यान से समझ लो रात दिन हमारे दिलों के अंदर गंदे गंदे ख्याल आते हैं वसवसे आते हैं और ऐसे ऐसे गंदे गंदे ख्याल आते हैं कि आदमी उसको जुबान से बोलना भी पसंद नहीं करता किसी अपने उस्ताद को अपने पीर साहब को अपने किसी बुजुर्ग को बताने जा रहे तो अभी बताना भी पसंद नहीं करता बस वो मुख्तसर टुक में कहेगा हजरत दिल में बहुत गंदे ख्याल आते हैं बोल नहीं सकता ऐसे गंदे गंदे दिल में ख्याल इरादे आते हैं इतने गंदे ख्याल ये जो गंदे ख्याल गंदे इरादे दिल में आते हैं वो सिर्फ हमको नहीं आते हदीस पाक में आता है कि एक मरतबा खुद सहाबा ने हुजूर से कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिल में इतने गंदे गंदे ख्याल आते हैं कि उसको बोलने के मुकाबले में जल के कोयला होना हमको अच्छा लगता है बोलना ही पसंद नहीं बोलने की हिम्मत नहीं इससे अच्छा तो हम जल के कोयले बन जाए तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत प्यारा जवाब दिया हुजूर ने साहबा को फरमाया यही तो तुम्हारे ईमान की निशानी है यही तो ईमान है तुम लोगों का इसलिए कि शैतान गंदे वस्व से कहां डालेगा जहां ईमान होगा वही वस्व से डालेगा कभी कोई काफिर मुशरीफ ये नहीं कहेगा कि मेरे दिल में गंदे वसवसे आते शैतान तो बहुत होशियार है बहुत होशियार है वो अपनी मेहनत और अपने काम को कभी बेकार नहीं करता जहां कोई फायदा नहीं हो वहां वो मेहनत नहीं करता वो जानते कि तो सब अपने है ही है इनको क्या वसवसे डालने के वो से कहां डालता है जब प्योर ईमान हो पक्का ईमान हो कामिल ईमान हो बस वहीं जाकर के वो से डालता है आप लोग जानते हैं ना एक बबूल का दरख्त होता है जिसको बावड़ कहते हैं हमारी गुजराती में जिस पर बड़े बड़े कांटे लगते हैं और एक होता है आम का दरख्त जिस पर कैरी लगती है आप में से किसी ने कभी देखा कि कोई आदमी बावर के ऊपर पत्थर मारता हो गिराने के लिए कि चलो पत्थर मार के थोड़े कांटे गिराओ मैं पत्थर मारने वाले कहां नजर आएंगे जहां कोई फल फ्रूट लगे हो वहीं पर लोग पत्थर मारने वाले नजर आएंगे ये वसवसे ये गंदे ख्याल ये शैतान के पत्थर है जहां ईमान के फल लगे होंगे शैतान वही पत्थर मारेगा और जहां कुफर के शिरक के कांटे लगे होंगे वो कभी पत्थर मारने के लिए नहीं आएगा इसलिए एक बात हमेशा के लिए दिल में बिठा रहे ऐसे ही हमारा कोई इरादा नहीं हमने सोचा नहीं ऐसे ही दिल में ख्याल आ रहे और वो आके निकल भी जा रहे आदमी कोशिश भी करता है कि नहीं आवे फिर भी आते हैं आदमी चाहता है कि ऐसे ख्याल नहीं आने चाहिए फिर भी आते हैं आदमी ये अमल करता है उस ख्याल के बिल्कुल खिलाफ नऊज बिल्ला दिल में ख्याल आया किसी औरत को देखो लेकिन आदमी देखता नहीं नजर हटा लेता है तो जो ख्याल जो वसवसा दिल के अंदर खुद ब खुद आवे आदमी का कोई इरादा नहीं उस वसवसे और ख्याल के ऊपर अल्लाह के यहां कोई गुना नहीं होगा कोई गुना नहीं उसके ऊपर गुनाह कहा होता है वो भी समझ लो आदमी जानबूझ के कोई चीज दिल में सोचे कहते हैं मुझे जरा विचारने का टाइम दो फिर मैं जवाब देता हूं उसमें क्या होता है आदमी जानबूझ के सोचता है तो जहां आदमी खुद जानबूझ के गंदी चीज सोचे बस उसके ऊपर अल्लाह ताला के यहां पकड़ होगी हिसाब किताब होगा और फिर उसमें भी क्या होता है आदमी कोई खराब चीज गुनाह की चीज बुराई की चीज सोचता है फिर फैसला करता है ये काम में तुझे करना ही करना है करके ही रहूंगा ये काम में तो जो चीज खुद सोची फिर पक्का इरादा कर लिया उस काम को करने का लेकिन कोई मजबूरी आ गई नहीं कर सका तो उस इरादे और फैसले पर भी अल्लाह तला की यहां पकड़ होगी सिर्फ इस इरादे और फैसले पर आदमी ने सोचा कि मुझे ये काम करना अब उस काम के लिए पैसे चाहिए पैसे ही नहीं मिले कि वो गंदा काम करने जाए किसी को मार डालने की पक्की नीयत कर डाली मार ही डालूंगा लेकिन चांस ही नहीं मिला बहुत कोशिश तो की लेकिन कोई ना कोई रुकावट आ जाती है उस काम के ऊपर अल्लाह ताला के यहां पकड़ होगी बाकी ऐसे ही जो वसव से आए जो ख्याल आए जो इरादे आके निकल जाए उसके ऊपर अल्लाह ताला कोई पकड़ नहीं करते इसीलिए ऐसे ख्याल आए परेशान नहीं होने का आए निकल जाए उसके पीछे भी नहीं पड़ने का तुम जितना उसके पीछे पड़ोगे इतने ज्यादा आएंगे पीछे नहीं पड़ने का आप देखते हैं ना रास्ते में गाड़ी लेके जा रहे हैं बार जगह पर कुत्ते दौड़ते हैं भूखते हैं तो निकल जाओ आगे तो भी रुक जाएगा एक जगह पर और वो दौड़ा भूखा और आप खड़े रह के देखने गए तो क्यों दौड़ा क्यों भूखा तो और ज्यादा भूखेगा और ज्यादा चिल्लाएगा सेम ये हाल अपने दिल के गंदे ख्यालों का है कि आवे उस पर ध्यान मत दो चलते रहो अपने अपना अपना काम करते रहो वो खुद ब खुद निकल जाएंगे और अगर तुमने रुक करके उसकी तरफ ध्यान दिया तो तो और ज्यादा गंदे ख्याल आएंगे बढ़ जाएंगे और दूसरी बात यह है कि हम अपने दिल के अंदर कभी हसद का ख्याल लाते हैं दूसरे मुसलमानों के ऊपर जलते हैं बाहर कुछ नहीं होता बैठे बैठे अंदर ही अंदर जल रहे ये क्यों इतना आगे बढ़ गया है बाहर कुछ कर भी नहीं सकते बोल भी नहीं सकते लेकिन अंदर अंदर बैठे बैठे जल रहे इसको हसद की आग कहते हैं इस पर भी अल्लाह ताला के यहां आदमी को अजाब होगा गुना होगा इसी तरीके से दिल के अंदर बैठे बैठे तकबूर लाओ घमन लाओ दूसरों को नीचा समझे हकीर समझे और खुद को बड़ा ऊंचा अच्छा समझे इस पर भी अल्लाह ताला की यहां पकड़ होगी ये दिल को हसद से तकबर से घमंड से दूसरे को नीचा समझने से पाक रखने का हालांकि इसमें आदमी बाहर कुछ ही नहीं करता बस दिल दिल में बैठ के सोता है इसका क्या हो तो बहुत नीचा आदमी मैं मैं बहुत ऊंचा आदमी किसी तरह पैसे के एतबार से इज्जत के एतबार से अहदे के एतबार से किसी तरह भी किसी को नीचा समझना खुद को ऊंचा और अच्छा समझना ये तकबूर ये दूसरों की ताकीर इस पर अल्लाह ताला की यहां पकड़ होगी फिर आगे अल्लाह ताला ने सूर्य बकरा की आखिरी दो आयतें बयान फरमाई ये जो दो आयत है इतनी बरकत वाली आयत है कि हदीस में आता है कि अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन को पैदा करने से पहले अभी आसमान भी पैदा नहीं हुए जमीन भी पैदा नहीं हुई उसके भी 2000 साल पहले आसमान जमीन के पैदा होने से 2000 साल पहले अल्लाह ताला ने यह आयत खुद एक किताब के अंदर लिखी ये दोनों आयत और ये दोनों आयत अल्लाह ताला के अर्श के नीचे जो खजाना है स्पेशल खजाना अल्लाह ताला का अर्श के नीचे उस खजाने में से अल्लाह ताला ने कुरान में भेजी है और अजीब बात आप हैरान रह जाओगे कि पूरा कुरान दुनिया में आया है जिब्रैल अमीन के जरिए 22 साल 6 महीने लगे कुरान को दुनिया में आते आते थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके आया और ये जो आखिरी दो आयत है सूर्य बकरा की ये आयत जब हमारे आका हजरत मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज में तशरीफ ले गए अल्लाह ताला से मुलाकात हुई तो उस मुलाकात के वक्त पर अल्लाह ने ये दो आयत स्पेशल तोहफे में अता फरमाई वहां पर सातों आसमान के ऊपर इतनी बरकत वाली आयत है आप अंदाजा लगाओ जब कोई मोहब्बत करने वाला दूसरे से मिलता है तो मोहब्बत में जो खास मुलाकात के वक्त जो गिफ्ट दी जाती है वो कितनी यादगार होती है अल्लाह को अपने नबी से और नबी को अल्लाह से जो मोहब्बत है वो मोहब्बत कहीं नहीं हो सकती उस मुलाकात के वक्त जब महराज में सातवें आसमान के भी ऊपर जाके तो उस मौके पर अल्लाह तला ने ये दो आयत नबी करीम सल्लाम को अता फरमाए हदीस में आता है कि जो आदमी ईशा की नमाज के बाद ये दो आयत पढ़ ले गए तो उसको अल्लाह तला तहजद का सवाल अता फरमा देते हैं कितनी बड़ी बात है ये दो आयत ईशा के बाद जिसने पढ़ ली अल्लाह ताला उसको तहजुद पढ़ने का सवाब अता फरमा देंगे इसलिए हजरत उमर फारूक हजरत अली मुर्तजा रदी अल्लाह तुमा तो ये फरमाते हैं कि जो इंसान भी अक्ल वाला है समझ वाला है वो रात को सोते वक्त पर इन दो आयतों को जरूर पढ़ेगा इसीलिए आज की इस मुबारक मजलिस से नीयत लेकर के जाओ कि ये दो आयत को रोजाना रात को सोते वक्त पर इंशाला पाबंदी से पढ़ेंगे और जिस घर में ये आयतें तीन दिन पढ़ी जाती है लगातार हदीस में आता है कि उस घर में शैतान नहीं आ सकता रात को तीन दिन लगातार जिस घर में ये दो आयतें पढ़ ली गई उस घर के अंदर शैतान भी दाखिल हो सकता है निकल के भाग जाता है इतनी ज्यादा फजीलत है और हदीस में यह भी आता है जो आदमी कबर के ऊपर इन दो आयत को पढ़ दे मुर्दे को दफन करने के बाद तो अल्लाह ताला उस मुर्दे की मफफरत फरमा देते हैं इसलिए हमारे यहाँ माशाला इस पर अमल होता है कि जब किसी का इंतकाल होता है तो उसकी कबर के ऊपर ये दो आयतें पढ़ी जाती है और शुरू की पांच आयतें पढ़ी जाती है तो इस आयत की बरकत से तो अल्लाह ताला मैत की मफफरत फरमा देते हैं इतनी प्यारी आयत है और पूरी आयत बस दुआ ही दुआ है अल्लाह ताला ने दुआ हमको मांगना सिखाया कि अल्लाह तो अगर हमसे भूल चुक हो जाए तो हमारी पकड़ मत करना अल्लाह खुद सिखा रहे ए मेरे बंदे तुम ये दुआ मांगो कि हमसे भूल चुक हो जाए तो अल्लाह तो हमारी पकड़ मत करना इंसान है भूल चुक हो जाती है हर दुआ पर अल्लाह की तरफ से जवाब मिला ए मेरे बंदे मैंने तेरी दुआ कबूल कर ली जो पढ़ता जाता है अल्लाह की तरफ से वादा है कि मेरे बंदे तेरी दुआ कबूल हो गई आगे बंदा कहता है अल्लाह ताला से ए अल्लाह पिछली उम्मतों के ऊपर जो तूने भारी भारी मसले दिए थे भारी भारी कानून दिए थे वो कानून हम लोगों को मत देना हमारा दिन तो बहुत आसान है पिछली उम्मत के लिए इतने सख्त मसले थे कि अगर कपड़े के ऊपर कोई नापाकी लग गई पिशाब लग गया खून लग गया तो उसको पानी के जरिए धो नहीं सकते जहां भी पिशाब लगा खून लगा शराब लगी उसको काट देने का धो ही नहीं सकते पानी से पाक ही नहीं हो सकता ये कानून था अल्लाह ने हमारे लिए कितना आसान कर दिया पूरा कपड़ा पिशाब वाला हो जाए उसको पानी से धो डालो पाक हो जाएगा और पहली उम्मत में कानून जहां नापाकी लगी उसको काट देने का तो मैं कहा करता हूं कि आजकल वो जो कटेली पेंटे चल रही है दुनिया में यहां वहां वहां यहां सब कटेला कटेला होता है और लोग उसको स्टाइल और फैशन में पहनते हैं तो मैंने कहा तो तुम खुद खुल्लम खुल्ला ऐलान कर रहे हो कि हम गुनेगार हैं इसलिए सब काट कूट के आए पहली उम्मतों की तरह इस उम्मत के लिए तो अल्लाह ने बहुत आसानी फरमाई कि सिर्फ पानी से धो अल्लाह ताला पाक कर देंगे और दूसरी अजीब बात इसी सूरत में आपने किस्सा सुना कि पहले जमाने में अगर कोई गुनाह हो जाता था तो गुनाह के अंदर माफी कैसे होती का अपने आप को कत्ल करवा दो तो अल्लाह माफ करेंगे फतूबो इलाकुम फतलु अनफुसकुम तोबा कैसे कबूल होगी का तोबा में ये होगा कि जितने गुनाह करने वाले उन गुनाह करने वालों को उनके रिश्तेदार लोग अपने हाथ से कत्ल कर डाले तो तोबा कबूल होगी और इस उम्मत के लिए कितनी आसानी रो आंसू बहाओ सच्चे दिल से माफी मांगो आइंदा नहीं करने का इरादा कर लो अल्लाह माफ कर देंगे कितनी आसानी हो गई और एक अजीब चीज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से हमको कितने कितने तोहफे मिले पहले जमाने में ये होता था कि रात को कोई गुनाह का काम करे तो सुबह में उसके दरवाजे पर कुदरती लिखा रहता था कि आज रात को इसने ये गुनाह किया कुदरती ऑटोमेटिक आ जाता था कोई भी आदमी छुप करके गुनाह करे अंधेरे में गुनाह करे उसके दरवाजे पर सुबह कुदरती बॉर्ड लग जाता था अल्लाह की तरफ से अगर ये आज होता तो शायद हम लोगों के दरवाजे भी छोटे पड़ जाते लेकिन हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत है कि अल्लाह ने इस उम्मत के लिए आसानी कर दी कि कोई गुनाह करता है उसके दरवाजे के ऊपर लिखा नहीं जाता बल्कि गुनाह करे और तोबा कर रहे अल्लाह उसके गुना को माफ कर देंगे इसीलिए हदीस में जबरदस्त मजमून है कयामत के दिन अल्लाह तला पाक बंदों को करीब में बुलाएंगे और चुपकी चुपकी खानगी में अल्लाह बात करेंगे बास बंदों से चुपकी चुपकी आहिस्ता आहिस्ता खानगी में अल्लाह ताला उसको दुनिया के कुछ गुना याद दिलाएंगे ये मेरे बंदे तूने फुलाना गुना किया था अब अल्लाह के सामने तो इकरार करने से छुटकारा है वो बंदा कहेगा हाँ मेरे अल्लाह मैंने वो गुना किया था फिर अल्लाह दूसरे गुना याद दिलाएंगे तूने वो गुना भी किया था छुप के हाँ मेरे अल्लाह मैंने ये गुना भी किया था अल्लाह इसके एक एक गुना जो उसने खानगी में किए वो सब अल्लाह तला गिनवाएंगे और गिनवाने के बाद वो बंदा जैसे जैसे इकरार करेगा अल्लाह मैंने ये भी किया ये भी किया ये भी किया अल्लाह तला फरमाएंगे जा मेरे बंदे मैंने तेरे ये तमाम गुनाहों पर दुनिया में अपना पर्दा डाल दिया था छुपा दिया था लोगों के सामने जाहिर नहीं होने दिया था आज मैं कयामत के दिन तेरे वो तमाम गुनाहों को माफ कर देता हूं तो तेरा नेकी का दफ्तर ले और चला जा तेरी हमने मगफिरत कर दी कितने मेहरबान है अल्लाह सुबहान हो वाला जब अल्लाह इतने मेहरबान हो तो अब उसकी मेहरबानी के सामने हमारी वफादारी ये है कि हम उस अल्लाह ताला को नाराज करने वाले काम नहीं करें यही तो दुआ मांगी वरहमना अल्लाह तो हम पर रहम फरमा अल्लाह काफिर कौम के मुकाबले में तो हम लोगों की मदद फरमा बंदा ये दुआ मांगता जाए अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाते जाए इसीलिए इस बात को दिल के अंदर अच्छी तरह बिठा लो कि जो वसवसे ख्याल खुद ब खुद आते उस पर अल्लाह ताला की यहां कोई पकड़ नहीं होगी अल्लाह ताला उस पर माफी फरमाएंगे और ये दो आयत जो सूर्य बकारा की है ये इतनी बाबरकत आयत है कि सब भाई हमारे बहने सब याद कर ले और रोजाना रात को सोते वक्त पर पढ़ने की आदत बना लो इसकी बरकत से अल्लाह ताला का हज पढ़ने का सवाब अता फरमाएंगे और इसकी बरकत से अल्लाह ताला शैतान से हमारे घरों की हिफाजत फरमाएंगे कबर पर पड़ा जाए अल्लाह इसकी बरकत से मुर्दों की मफफरत फरमा देते हैं अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने वाला बना दे बहुत सारे सवालत हैं दो चार सवाल के जवाब रखा आज सुन लो बाकी इनशाला आइंदा पीर को <coughs> एक सवाल किया है कि जब औरत को महीने होते हैं प्रेग्नेंट होती है तो सातवें महीने के ऊपर उसके घर वाले यानी लड़की के घर वाले आते हैं और खौरों भरवाना ये रिवाज है तो उसके बारे में शरीयत का क्या हुक्म है पहले मुझे ये चीज़ मालूम नहीं थी कि ये खौरों भरना क्या चीज़ होती है तो मैंने एक दिन किसी को पूछा कि ये सातवें महीने जब लड़की को लेने आते हैं तो उसका खौड़ा पूरा भर के ले जाते हैं इसलिए उसको खौड़ा भरना कहते का नहीं ऐसा नहीं है इसके ऊपर एक बात समझ लो आमतौर पर जब पहली मर्तबा में बच्चा होता है तो वो लड़की के लिए एक ज्यादा शर्म की बात होती है इसीलिए उसकी चाहत होती है कि वो अपनी माँ के घर जाकर के उसको बच्चा होए मां के घर वाले उसकी खिदमत करें ये एक मुनासिब और ठीक चीज भी है पहला मौका है और औरत को ज्यादा शर्म हया भी होती है लेकिन उसके लिए सातवा महीना फिक्स करें कि ले जाने के लिए सातवें महीने पर आए और ले जाने के दिन ये देने का वो देने का नारियल देने का और ये करने का वो करने का ये सब गलत चीज है ये रिवाज है उसको खत्म करने की जरूरत है ले जाना हो तो कोई छठे महीने ले जाए कोई पांचवें महीने ले जाए जैसी तंदुरुस्ती जैसी उसकी तबीयत अगर वो लड़की बीमार रहती है प्रेग्नेंट होने के बाद तो जरा जल्दी इजाजत दे दो कि जल्दी चली जाए माँ बाप उसका अच्छी तरह इलाज करा रहे ध्यान रखे अच्छी तंदुरुस्ती है तो आठवें महीने के अंदर भी ले जाओ जैसा मौका उसके लिए सातवां महीना फिक्स और उसके लिए ये दो वो दो ऐसी चीज करो ऐसी प्रोसीजर करो ये गलत तरीका ये खत्म करने की जरूरत है ये किसी ने सवाल किया है मेडिक्लेम के बारे के अंदर तो इंशाल्लाह उसको पूरी तफसील से आइंदा मजलिस के अंदर समझाएंगे अब्दुल मजीद भाई हकीम जी की तबीयत ख़राब है अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अजला दाइमा मुस्तमर्रा अता फरमाए <clears throat> हमारी मस्जिद में नमाजी भाई चश्मा घड़ियाल वगैरह भूल जाते उसको लेने भी नहीं आते उसका क्या करना चाहिए भाई वो मस्जिद के बोर्ड के ऊपर लिख देने का कि भाई ये किसी की घड़ी और ये सब मिला है तो जिसका हो वो लोग आकर के ले जाए थोड़े दिन तक जो है ऐलान रहने देने का बहुत महंगी चीज हो गए तो और ज्यादा दिन तक और सस्ती चीज हो गए तो चंद दिन तक रहने देने का कोई लेने आओ तो दे दो नहीं लेने आओ किसी गरीब को सदका कर दो और सदका करने के बाद कोई लेने के लिए आया तो उसको आपको अपनी जेब में से देना पड़ेगा सदके का जवाब आपको मिल जाएगा लेकिन आपको अपनी जेब में से दे देने का भाई माशाल्लाह अल्लाह ताला के फसल करम से आज सूर्य बकरा मुकम्मल हुई अब तक ये 27 दो 2007 से कुरान मजीद की तफसीर का सिलसिला यहाँ शुरू हुआ तो अब तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुर फातिहा सुर यूसुफ सुर कहाब सुर ताहा सुर नूर सुर अहजाब सुर सबा सुर यासीन सुर रहमान सुर जुमा सुर मुल्क सुर मुजम्मिल सुर मुद्दसर सुर अलक इतनी सूरतें अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हो चुकी हैं और अल्लाह के फजल करम से आज सुर बकरा मुकम्मल हुई पिछली मरतबा में जब ये सूरत मुकम्मल हुई थी तब उसकी बाकायदा डीवीडी बना करके तकसीम की गई थी फिर बाद में उसकी सीढ़ियाँ भी तैयार हुई इन सुर बकरा की भी डी और डीवीडी तैयार करवा देंगे और जैसे पिछली मरतबा उसको फ्री में तकसीम किया गया था इन इस मरतबा भी उसको फ्री में तकसीम करने का निज़ाम बना लेंगे और जो है पिछली जो तफसीरों की सीडिया हैं डीवीडी है वो भी तैयार है बहरहाल अल्लाह ताला इस सिलसिले को बे इंतहा कबूल फरमाए और अल्लाह ताला वो दिन भी दिखलाए हम सबको कि जिस दिन पूरा कुरान मजीद तफसीर के अंदर मुकम्मल हो गए अल्लाह वो दिन भी अपने फजलो करम से दिखलावे रिवायतों में आता है कि हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तु की जब सूर्य बकरा पूरी हुई थी या लिफलामिन वाली सूरत तो हजरत उमर रदी अल्लाह तु ने एक ऊंट जबा किया था और ऊंट जबा करके सबकी दावत की थी ये रिवायतों में आता है तो मेरा भी जी चाहता था कि ऊंट नहीं तो उससे कम दर्जे की कोई चीज दबा करे और दावत करे अल्लाह सुबह ताला हम लोगों को इस सुर बकरा में जितने भी अहकाम आए मसाइल आए उस पर अमल करने की तोफीक अता फरमाए जो अल्लाह के बंदे और बंदियां पाबंदी के साथ हर पीर को यहाँ पहुँचते हैं अल्लाह ताला उन सब की हाजिरी को भी कबूल फरमाए कितने अल्लाह के बंदे और बंदियां हैं जो इंटरनेट के जरिए से हमारे साथ होते हैं क्योंकि लाइव हम लोग इसको रखते हैं नेट के ऊपर वो तो मैं फॉरेन में सफ़र में जाता हूँ तो बहुत से बंदे बंदियाँ कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक मजलिस भी नहीं छूटी हालांकि अवकात में बहुत बड़ा फर्क होता है अमरीकी मुल्कों के अंदर पूरे अमरीकन कंट्रियों में इस वक्त तो सुबह होगी लेकिन बर्फ के अंदर वो बेचारे उड़ जाते हैं और इंटरनेट के ऊपर हमारे साथ होते हैं इस तरफ के जो ममालिक हैं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड फिजी वगैरह उनके अंदर आइंदा कल सुबह होगी इंग्लैंड वगैरह के अंदर दोपहर होगी कामकाज के अवकात होंगे लेकिन फिर भी कुछ अल्लाह के बंदे बंदियां हैं जो बहुत पाबंदी के साथ नेट पर हमारे साथ हर पीर को होते हैं और बास तो ऐसे भी है क्योंकि इस पर रिपोर्ट भी आती है कि कहां कहाँ से लोग सुनते हैं तो एक मरतबा मैंने रिपोर्ट निकलवाई तो ऐसी कंट्री के जहां अब तक मैं गया भी नहीं और मेरी जानकारी में मैं वहां किसी को जानता भी नहीं वहां से भी लोग इंटरनेट पर हमारे साथ होते हैं जैसे नॉर्वे नॉर्वे अब तक मैं गया नहीं एक मरतबा प्रोग्राम बना फिर कैंसिल हुआ तो वहां से भी लोग नेट के ऊपर होते हैं तो एक मुबारक सिलसिला है जो मजमा हमारे सामने है हमारी कितनी बहनें हैं जो घरों के अंदर जो है सुनती है और इंटरनेट के जरिए से दुनिया के कितने मुल्कों से अल्लाह के बंदे हमारे साथ इस मुबारक मजलिस में होते हैं अल्लाह ताला हम सब के वास्ते इस मुबारक सिलसिले को खैर और बरकत का जरिया बना سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الآيات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا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 हमें नसीब फरमा दे अल्लाह तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत के मुताबिक जिंदगी का हर काम करने की तौफीक अता फरमा हर गुनाह से नफरत अता फरमा नेकियों से मोहब्बत अता फरमा ए अल्लाह तो हमको नमाज को कायम करने वाला बना दे ए अल्लाह तो तेरी मोहब्बत और प्यार हमें अता फरमा दे तेरे जिक्र और शुक्र की कसरत अता फरमा दे हमारी औलादों को नेक और सालह बना दे हमारी औलादों की इस्लामी तालीम और तरबियत फरमा दे ए अल्लाह तो हमको हमारी औलाद और हमारी नस्लों को तेरे दीन के लिए कबूल फरमा ले हमारी जिंदगियों को कबूल फरमा ले अल्लाह तो किसी का मोहताज नहीं है अगर तो कबूल करेगा तो हम फकीरों का काम बन जाएगा अल्लाह हम तुझसे तेरे कर्म से भीख मांगते हैं हमारी तमाम सलाहियतों को हमारी जान मान वक्त को अल्लाह तेरे दीन के लिए कबूल फरमा ले अल्लाह जिस दिन दुनिया से जाने की बारी आए ईमान के साथ दुनिया से जाना नसीब फरमा कलमे वाली पाकिजा बता फरमा हर बुरी मौत से हमारी हिफाजत फरमा है अल्लाह आज हम लोग तुझसे तेरे घर में बैठ करके अल्लाह की दुआ मांगते हैं हम सब को मदीने तैयबा की मौत बता फरमा दे बकी में दफन होना नसीब फरमा दे कयामत के दिन हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी हाथों से हौज कौशल का पानी पीना नसीब फरमा दे अल्लाह कयामत के दिन तेरे आयश अजीम का साया हमें अदा फरमा दे अल्लाह अगर तू हिसाब लेने जाए हम जिंदगी के एक घंटे का हिसाब नहीं दे सकते हे मालिकल मुल्क ए हमारे अल्लाह तो हमारे लिए आशा ही फरमा पर बिगैर हिसाब किताब के जन्नतुल फिरदौस का अवलीन दाखला अता फरमाओ अल्लाह पर ईमान के नूर के साथ तेज से तेज तरीके से गुजरना नसीब फरमा दे हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमद वाले झंडे के नीचे जमा होना नसीब फरमा दे पूरी दुनिया के मुसलमानों के हाल पर रहम फरमा दे हमारे कितने भाई लाखों की तादाद में इस वक्त आसमान के नीचे कैंपों में जिंदगी गुजार रहे हैं अल्लाह ए बिगड़ी के बनाने वाले अल्लाह तो तेरे लाडले नबी की उम्मत की बिगड़ी को बना दे उन तमाम मुसलमान भाइयों की मदद फरमा दे ए बेसहारों के सहारे खुदा तो उनका सहारा बन जा अल्लाह उनकी हर जरूरत को पूरा फरमा उजड़े हुए को आबाद फरमा बेसहारों को सहारा करना अल्लाह पूरे आलम में अमन अमान का माहौल कायम फरमा अदल इंसाफ का माहौल कायम फरमा अब का मान फरमा तेरे लाडले नबी की उम्मत को इज्जत अदा फरमा अहले ईमान के हर तरफ से हिफाजत फरमा है हमारे अल्लाह जितने भी दीन के काम हो रहे हैं उन तमाम कामों की और काम करने वालों की हिफाजत फरमा लें मसाजिद की मदारिस की खानकाहों की मराकिस की जमातों की और दीन की हिफाजत करना है अल्लाह तो हम सबको हलाल बरकत वाली रोजी अता फरमा हराम से हिफाजत फरमा जिनके पास अपना घर नहीं है उनको घर अता फरमा जिनके घर में जवान बेटे बेटियां हैं उनके लिए मुनासिब रिश्तों का इंतजाम फरमा अल्लाह शोहरों को बीवियों के हक अदा करने की तोहफीक अदा फरमा और बीवियों को शोहरों का हक अदा करने की तोहफीक अदा फरमा हमारे बहुत से भाई और बहन किस्म किस्म की बीमारियों में है अहरे साथी मुतलक अल्लाह तो उन सबको शिफा का फरमा है बहुत से भाई बहनों पर जितना पर जादू के असरात है अल्लाह उन तमाम को शिफा अदा करना है हमारी जायज मुरादों को पूरा करना है हमारी उम्रों में बरकत अदा करना इज्जत में बरकत अदा करना हमारी जायज तमन्नाओं को पूरा फरमा अल्लाह ये कुरान मजीद की तफसीर के सिलसिले को कबूल फरमा तेरे जो बंदे और बंदियां अल्लाह पाबंदी से आते हैं जो कभी कभी आते हैं या जो आज अल्लाह तेरे बकरा के खत्म की नस्बत से आए इन सब के आने को कबूल फरमाए हमारी बहनों को भी कबूल फरमाए जो सुनते हैं उनको भी कबूल फरमा ले अल्लाह इस सिलसिले को जारी सारी कायम दायम फरमा हर नाव की रुकावटों से की हिफाजत करना तेरे जो बंदे इसको कायम करने के लिए मेहनत करते हैं ताउन करते हैं कुर्बानियां देते हैं अल्लाह उन तमाम को भी कबूल फरमा ले इस महल्ले और बस्ती वालों को कबूल फरमा ले आने वालों को कबूल फरमा ले अल्लाह हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर मांगी हमें और पूरी उम्मत को अता फरमा हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन शुरू से पता चाही हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा अल्लाह अल्लाह ओ हमारे अल्लाह तो हम सबसे राजी और खुश हो जा तो हम सबसे राजी और खुश हो जा हम सबसे राजी और खुश हो जा और अल्लाह फिर तो कभी नाराज न हो और अल्लाह तो हम सबको हम सबको बार बार दुनिया और आखिरत की भलाइयों से मालामाल फरमा दे وصلى الله وسلم على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين